ओमाप्यायन्तु मम अङ्गानि वा प्राणश्चक्षुस्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि उपनिषद तृतीय अध्याय द्वादश खंड तक कुछ विचार हुआ जिसमें हार्द ब्रह्म के विषय में चर्चा हुई अब आगे जाकर के बोलना चाहते हैं उनके द्वारपाल के बारे में परमात्मा हृदय के भीतर परमात्मा विराजमान है उनके द्वारपाल है हृदय के जो पांच दिशाओं में पांच क्षेत्र हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा उन दिशाओं में एक एक प्राण द्वारपाल के ऊपर बैठे हैं खाली प्राण ही नहीं है प्राण के साथ चक्षु है आदित्य है देव माने सबके सब मिलेंगे अभी बताएंगे हम वैसे ज्ञान के साथ भी होंगे स्रोत्रादि होंगे <clears throat> अच्छा <clears throat> मंत्र है आगे तस्य हवाये तस्य हृदयस्य पञ्चदेव सुषयः स योऽस्य प्रांशुषिः स प्राणः तच्चक्षुः स आदि तदेतजोन्नाद्यमी उपासी तेजस्वी अन्नादो भवती एवं वेद तस्य हवाये तस्य हृदयस्य पञ्चदेव सुषयः स यो अस्य प्रांशुषिः स प्राणः तच्चक्षु सादित्य तदेतत्तेजो अन्नाद्यमिति उपासीत तेजस्वी अन्नादो भवति वेद तस् हवा ये तस्य हृदय पूर्वोक्त जो हृदय है जिसके विषय में चर्चा हुई थी जिस हृदय के भीतर हावड़ ब्रह्म है कहा था तीन आकाश ने बताया था शरीर के बाहर आकाश है शरीर के भीतर भी एक आकाश है पहले शरीर के बाहर के आकाश को ब्रह्म कहा फिर शरीर के भीतर भी जितना बड़ा बाहर है उतना भीतर वाला है ऐसा बताया उसके पश्चात इसको उसी तरह देखना चाहेंगे भीतर वाले का आकाश को तो ये उपाधि को हटा दो उतना बड़ा दिखेगा वैसे दिखेगा फिर जितना बड़ा शरीर के हृदय के शरीर के भीतर आकाश है उसके भीतर हृदय के भीतर उतने बड़ा आकाश है कहा उस आकाश के भीतर जो तत्व है उसको देखना चाहिए उसको जानना है हृदयाकाश के भीतर मन हृदयाकाश में मन रहता है ब्रह्माकार वृत्ति मन ने बनानी है बात यह है आगे सप्तम अष्टम अध्याय में आएगा इसी बात को बताएंगे वहां जो हार्द ब्रह्म की चर्चा में कहेंगे आगे यही बात आएंगे तो प्रसिद्ध जो हृदयाकाश है तस्य हवा यह तस्य हृदय का हृदय जो हृदय है उस हृदय में हृदय के भीतर क्या है पंचदेव सुषय है देवताओं के छिद्र वो सुशी माने छिद्र होता है देवताओं का छिद्र है दरवाजे है छिद्र दरवाजे द्वार है देवताओं का द्वार है जिसमें एक द्वार में प्राण होगा चक्षु होगा आदित्य होगा दिवलोक होगा आदि आदि दिखाएंगे पूर्व द्वार में ऐसे दिखाएंगे देवाराम सुषया देव सुषय देवताओं का सुशी माने छिद्र होता है द्वार दरवाजा सयो अश्य प्राण सुशी <clears throat> वह वो जो सुशी में से जो प्राण सुशी अश्य हृदय से प्राण सुशी हृदय के पूर्व दिशा में जो छिद्र है सब प्राण उस छिद्र में प्राण बैठा हुआ है द्वारपाल के रूप में प्राण है सब प्राण तत्चक्षु वो प्राण से अभिन्न करके चक्षु को कहा वही चक्षु है पूर्व दिशा का जो द्वार पूर्व दिशा का जो द्वार है प्राण सुशी सब प्राण वही प्राण है जो प्राण है वही चक्षु है और जो चक्षु है वही आदित्य है अभेद करके बोलेंगे भाष्य में संगति लगाएंगे आदित्य जो है चक्षु में प्रतिष्ठित है चक्षु रूप में प्रतिष्ठित है और रूप वासना रूप से हृदय में प्रतिष्ठित है इस तरह से अर्थ करेंगे तदे तत् वो जो हार्द ब्रह्म है जो प्राणरूप ब्रह्म है उसकी क्या करे ते, तेजो अन्नादिम उपासित है वो जो प्राण रूप ब्रह्म है यहाँ प्राण व्यान अपान समान उदान की उपासना होनी है द्वारपालों की उपासना होनी है जैसे कि हमें रास्ता दे देंगे भीतर जाने के लिए हृदय के भीतर परमात्मा है तो बाहर दरवाजे में बैठे हुए हैं तो इनकी उपासना करेंगे इस संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए रास्ता देंगे भीतर जाने के लिए इसके लिए है तो तदे तक वो जो प्राणाख्य जो ब्रह्म है प्राण नामक ब्रह्म है तेजो अन्नादे भूत उपासना उसकी उपासना तेज रूप से उपासना करे अन्नाद्य रूप से उपासना करे अन्नम च तदाद्यम च अन्न भी हो खाने योग्य भी हो अन्नाद्य बोलते हैं तेज और अन्नाद्य रूप से उपासना करे <clears throat> क्योंकि तेज इसलिए है चक्षु है आदित्य उसके देवता बैठे हैं वहां एक कहा जो ऐसी उपासना करेगा प्राण ब्रह्म की उपासना करेगा तेजस्वी अन्नादो भवती है वेद कहा यह वेद यही तो उपासते जो उपासना करेगा तेजस्वी हो जाएगा और अन्नाद होगा तृप्ताग्नि होगा जाठराग्नि प्रबल होगी उसकी ऐसा कहा टीका भी कहते हैं बक्षवर्ण के अच्छा ये आगे जो यहां जो पांच प्रकार की उपासना बताएंगे प्राण ज्ञान अपान समान उदान या प्रत्येक की चर्चा आगे पंचम अध्याय के उन्नीसवें खंड से लेकर के तेईसवें खंड तक इनके साथ कुछ संबंध है पंचम अध्याय में वहां पर पंच प्राणाहुति की चर्चा आएगी प्राण संबंधी चर्चा आएगी जब प्राण तृप्त होगा तो क्या उससे चक्षु तृप्त होगी चक्षु तृप्त होगा तो आदित्य तृप्त होगा आदित्य तृप्त होगा तो दिवलोक तृप्त होगा दिवलोक तृप्त होने सभी भूत तृप्त होंगे ऐसा ऐसी चर्चा आएगी ये यहाँ प्राणोपासना यहाँ है वहां अग्निहोत्र संबंधी लेकर के इन्हें पंच प्राणों की आहुति की चर्चा आएगी जो भोजन करने के पहले पंचग्रास दिया जाता है प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदाराय स्वाहा करके दिया जाता है और उसको नग्न न हो इसके लिए वस्त्र देना है उत्तरीय वस्त्र अधो वस्त्र देना है तो उनको पंचग्रास के पहले आचमन करना है पंचग्रास के बाद भी आचमन करना है क्योंकि तो प्राण को नग्न नहीं बनाना है वस्त्र सहित बनाना है इसके लिए चर्चा आएंगे पंचम अध्याय के उन्नीसवें खंड से लेकर के तेईसवें खंड तक इनके साथ संबंध है पंचम अध्याय टीका में कहते हैं बक्षमाण ज्ञान से स्वातंत्र परिहृत्य एक बक्षमाण उपासना है या ज्ञान माने उपासना बक्षमाण ज्ञान से स्वातंत्र परिहित बक्षमाण की उपासना है या पंच प्राण की उपासना है यहाँ द्वारपाल है वो हार्द ब्रह्म की द्वारपाल है उस द्वारपाल होगी उपासना करेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे तो भीतर जाना मिल जाएगा हमें दरवाजा खोल देंगे हृदय के भीतर ब्रह्म है वहां जाना है ये बाहर बैठे हुए हैं द्वारपाल है ये बक्षमाण ज्ञान से और ज्ञान माने उपासना बक्षमाण ज्ञान से स्वातंत्र परिचय स्वतंत्रता नहीं है इसकी पूर्व के साथ संबंध है इसका परिहृत्य प्रकरण भेदम व्यावर्तय तुम स्वतंत्र नहीं है पूर्व उपासना के साथ ये अंग रूप में है ये शारद ब्रह्म की जो उपासना पूर्व में कहा था उसके अंग में है ये स्वतंत्रता परिहार खनन करके प्रकरण भेदम व्यावर्तित तुम प्रकरण भेद नहीं है ऐसा व्यावृत्ति करने के लिए प्रकरण भेद नहीं है यहाँ एक ही प्रकरण है पूर्व जो प्रकरण था हार्द ब्रह्म उपासना बताया वही प्रकरण ये भी है उसी के साथ अंग में है ये यदि उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य आगे के ग्रंथ का तात्पर्य कहते हैं तस्य हवा इत्यादि भाषण कहा तस् हवा इत्यादि ना गायत्री अध्यक्ष ब्रह्मण जो गायत्री नामक ब्रह्म की चर्चा थी पहले ब्रह्मण उपासना अंगत्व उपासना के अंग रूप से हम्म। मुख्य उपासना हार्द ब्रह्म की उपासना है गायत्री नामक ब्रह्म की उपासना मुख्य उपासना है उसके अंग रूप से अंग अंगत्व द्वारपालादि गुण आवर्तन आरभ्य थे कहा उसी के लिए गुण का विधान करना है द्वारपालादि गुण का विधान करना उपासना मुख्य ब्रह्म की है द्वारपाल आदि गुण का विधान के लिए आरंभ किया जाता है आगे का प्रकरण एक यथा लोके द्वारपाला राज्य उपासन वशीकृता राज, राज प्राप्त्यर्था भवंती तथा यह भी कहते यथा लोके राज्य द्वारपाला उपासन ने वशीकृता द्वारपाला राजा के जो द्वारपाल होते हैं दरवाजे में रहने वाले वाचमैन जो होते हैं यथा लोके राज्य द्वारपाल बसी उपासना बसीकृता द्वारपाल राजा के जो द्वारपाल है उपासना के द्वारा जब अपने अधीन हो जाएंगे उनको संतुष्टि करेंगे तो क्या होगा राज प्राप्त करता भवंती वो राजा के पास जाने के लिए राज राज राजदर्शन प्राप्ति के लिए हो जाते हैं द्वारपाल छोड़ देते हैं भीतर जाने देते हैं हम्म। ऐसा अनु करना यथा लोके राज्य द्वारपाल राजा के जो द्वारपाल हैं वहां उपासना ने है वो जो राजा के द्वारपाल जब कोई व्यक्ति के द्वारा उपासना करके संतुष्टि की जाए उसको तो क्या करते हैं सेवा के सेवा से तो राज प्राप्ति अर्थात होती राजा की प्राप्ति के लिए हो जाते हैं माने भीतर जाने देंगे राजा प्रा, राजा की प्राप्ति होगी हमें ऐसा हो जाता है तथा यह भी यह भी यही समझना है क्यों ये परमात्मा के द्वारपाल है ये ये पंच प्राण परमात्मा के द्वारपाल में है हृदय परमात्मा का भवन है उसके भीतर परमात्मा है राज दरबार है वो तो परमात्मा के द्वारपाल है तो इनको हम उपासना के द्वारा संतुष्टि करेंगे तो भीतर जाने देंगे हमें परमात्मा प्राप्ति के साधन बन जाएंगे इसके लिए ये कहा मंत्र का अर्थ करते हैं तस्य इति प्रकृत से हृदय से तस्य माने पूर्व में हृदय की चर्चा है उसी का प्रकृत से हृदय से क्योंकि तत्सर्व सर्वनाम होता है सर्वनाम पूर्व पूर्व का परामर्श होता है पूर्व में कहा उसी को यहां कहेगा पूर्व में हृदय की चर्चा थी तस्ती प्रकृत से हृदय से ये तस् अनंतरम निर्दिष्ट ये एक मैंने अभी अभी को दिखाया था नजदीक में दिखाया था तस्य हवा ये तस्य ये तस्य मैंने अभी अभी कोई दूर में नहीं पूर्व प्रकट यही सामने था ये तस्य अनंतर निर्दिष्ट से तस्य का तस्य समीप में जो निर्दिष्ट था हृदय उसका पंच संख्या का देवाराम सुसयो संख्या में पांच है देवताओं का छिद्र है देवानाम शेषयो देव ष्टी समास है देवताओं को जो छिद्र का छिद्र होता है माने दरवाजा है स्वर्गलोक प्राप्ति द्वारा छिद्राणी कहा स्वर्गलोक है हार्द ब्रह्म हृदय स्वर्गलोक है हार्द हृदय का स्वर्गलोक है स्वर्ग मान ब्रह्म है हार्द ब्रह्म है उसके प्राप्ति के द्वार हैं पांच द्वार हैं माने द्वार माने छिद्राणी कहा सुशय माने छिद्राणी दरवाजे है पांच परमात्मा प्राप्ति स्वर्गलोक शब्द का अर्थ आर्द ब्रह्म हृदय में जो ब्रह्म है वो हाँ। देवई प्राणादित्यादि भी रक्षमाणानी वो जो हाँ, माने कैसा है वो कि स्वर्गलोक कैसा है कहते हैं देव प्राण आदित्यादि भी रक्षमा प्राण आदित्यादि के द्वारा रक्षित है वो हाँ, हृदय स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग उनके द्वारा रक्षित है माने वो दरवाजे में बैठे हैं भीतर किसी को जाने नहीं देते हैं रक्षमाणी कहा अतो देव है इसलिए देवताओं का छिद्र कहा जाएगा उसको दरवाजे हैं वो तस्य स्वर्गलोक भवन से जो हार्द ब्रह्म स्वर्गलोक है स्वर्गलोक होता है हार्द ब्रह्म हृदय का संबंधित ब्रह्म है उसका जो भवन है हृदय राज दरबार है उसके भीतर हार्द ब्रह्म बैठे हैं तस्य स्वर्गलोक भवन से हृदयाश्य हृदय से हृदय जो नाम है जिसका स्वर्गलोक का जो भवन है उसका हृदय नाम है अश्य यह प्राण सूची उस हृदय में जो पूर्व छिद्र पूर्व छिद्र है पूर्व दिशा में छिद्र है माने पूर्वाभिमुख से प्रागतम क्षेत्र पूर्वाभिमुख जो हृदय होगा पूर्व की तरफ पड़ा हुआ हृदय का अंश होगा उसमें प्रागतम क्षेत्र पूर्व की तरफ पड़ा हुआ जो छिद्र है छिद्रम माने द्वारम दरवाजा है वो द्वार है सब प्राण वो छिद्र प्राण है मान तस्थ प्राण है वहां प्राण माने छिद्र प्राण नहीं तस्थ कहा वो छिद्रस्थ वो छिद्र में स्थित है दरवाजे में बैठा है प्राण पूर्व पूर्व दरवाजे में प्राण है तेरह द्वारेण या संचर दी वायु विशेष माने पूर्व द्वार से जो विचरण करता है वायु विशेष उसका नाम प्राण है हृदय के जो पूर्व छिद्र है उसमें से वायु का काम विचरण करना है तेरह द्वारेण यह संचरती वायु विशेष सब प्राग अनिति प्राण एक कहा जिस द्वार से उस द्वार से वो संचार करता है पूर्व द्वार से वायु विशेष है पांच प्रकार के वायु है उनमें से एक विशेष वायु है पूर्व द्वार से घूमने वाला वायु सब प्राग अनिति प्राण पूर्व की तरफ चलता है इसलिए प्राण कहा उसको उस वायु प्राण तेनव संबद्धम अव्यतिरिक्तम तत्चक्षु उस प्राण से संबंधी चक्षु है तेन ही भविष्य प्राणेन ही भविष्य प्राण के द्वारा ही संबद्धम संबद्ध हुआ अव्यतिरिक्त भिन्न नहीं कहा जाता है प्राण के बिना चक्षु कोई काम नहीं कर सकती है इसलिए प्राण से भिन्न नहीं माना जा सकता है मिट्टी के बिना घट कोई काम नहीं कर सकता हाँ। इसी प्रकार प्राण के बिना चक्षु कोई काम नहीं कर सकती है इसलिए अव्यतिरिक्त का अभिन्न तेन ही संबद्ध संबद्धम उस प्राण के द्वारा ही संबद्ध जो अभिन्न चक्षु है तत्चक्षु चक्षु है तथा स आदित्य कहते आदित्य भी चक्षु से भिन्न नहीं होता चक्षु में प्रतिष्ठित ऐसे दिखाएंगे टीका में बताएंगे वैसा है तथा स आदित्य चक्षु भी उसी प्रकार है मैंने प्राण प्राण से भिन्न नहीं है क्यों कहा हुआ है कई स्तुति में हो हवाई बाह्य प्राण हो दो प्रकार के प्राण हैं एक आभ्यंतर प्राण है एक बाह्य प्राण है बाह्य प्राण को आदित्य हवाई बाह्य प्राण आदित्य ही बाह्य प्राण है प्राण रूप से कहा है इसलिए आदित्य भी प्राण से अभिन्न है दोनों इति श्रुति ऐसी श्रुति होने से चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमण हृदय स्थित तो जो आदित्य भी हृदय में स्थित है कहते हैं कैसे सीधा सीधा हृदय में नहीं परंपरा से हृदय में आदित्य पहुंच जाता है आदित्य प्रतिष्ठित होता है चक्षु में अनुग्राहक देवता है चक्षु का अनुग्राहक है आदित्य जब प्रकाश नहीं होगा तो चक्षु काम नहीं कर सकती है हाँ, आदित्य के प्रकाश में चक्षु काम करती है तो अनुग्राहक देवता है अधिष्ठात्री देवता बोलते हैं जिसको अनुग्राहक देवता है तो चक्षु में प्रतिष्ठित होता है वो अनुग्राहक होने से आदित्य और वो चक्षु कहाँ प्रतिष्ठित है वो अपने रूप में प्रतिष्ठित है उसका विषय है रूप चक्षु का विषय रूप है रूप में पहुंच जाते हैं चक्षु और रूप जो बाहर का रूप जो भीतर आ जाता है बासरा में आ जाता है फोटो के रूप में भीतर आएगा वो प्राण में है आदि सीधा आदित्य प्राण में आ नहीं सकता है आदित्य का संबंध चक्षु के साथ है चक्षु के साथ रूप के साथ है और रूप माने बाहर का रूप जब बाहर देखा जाता है तो भीतर में जो फोटो के माध्यम से लाया जाता है जिसको वृत्ति बोलते हैं बासना उस रूप से वो रूप हृदय में पहुंचा हुआ है प्राण में पहुंचा हुआ ये कहते हैं हृदय स्थित है हृदय में ये स्थित है सब कहा चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमेण आदित्य हृदय स्थित है हृदय में स्थित है आदित्य भी सीधा सीधा हृदय में साक्षात संबंध नहीं है परंपरा से हृदय में आदित्य पहुंच जाता है आदित्य का संबंध है चक्षु के साथ तो वह अनुग्रहण देवता है वो और चक्षु का संबंध होता है रूप के साथ चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण होना है वहां पहुंची हुई होती है और रूप माने जब वृत्ति रूप में भीतर आएगा हृदय में आ जाएगा बाहर रूप है किंतु चक्षु के द्वारा देखने के पश्चात भीतर आ जाता है फोटो के रूप में आएगा वो वृत्ति भीतर आ जाता है इस रूप से आदित्य हृदय स्थित है कहा चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमेणा चक्षु रूप उसके प्रतिष्ठ रूप के जो प्रतिष्ठा के क्रम से हृदय में आदित्य स्थित है स आदित्य कस्मिन प्रतिष्ठित चीज चक्षुषी ऐसा कई श्रुति वृद्धार्थ आदित्य कहाँ प्रतिष्ठित है कहा चक्षु है साकल्य ब्राह्मण की बात है आदित्य कहाँ रहता है कहा चक्षु में रहता है ऐसा कहा इत्यादि ही सुनाई गई इत्यादि वृद्धार्थ में भी है कहा प्राणवायु देवता एवं ही एका एक ही देवता है प्राणवायु प्राणवायु देवता एवं ही एका चक्षुर आदित्य सह आश्रयण ये कहा एक ही देवता है चक्षु भी प्राणी है और आदित्य भी चक्षु है एक प्राण है और उसका आश्रय भी ये प्राण है चक्षु आदित्य सह आश्रय वायु प्राणवायु देवता ही एक एक ही देवता है प्राणवायु चक्षु भी प्राण है आदित्य भी प्राण है और उनका जो आश्रय होगा चक्षु का आश्रय और आदित्य का आश्रय वो भी प्राण है प्राण से अतिरिक्त कुछ नहीं ये कहेंगे बक्षती च आगे कहेंगे पंचम अध्याय के उन्नीसवें खंड में आएगा जब पंच प्राणाहुति में सबसे प्रथम प्राणाहुति करता है तदभक्तम यद भक्तम तद होमीयम होमीयम तद भक्तम यद भक्तम तद होमीयम ऐसा आया हुआ है यद प्रथम प्रथमम यद भक्तम प्रथम आगच्छेत तद होमीयम ऐसा मंत्र आएगा पहले हवन करना चाहिए कहा हुआ है तो हवन कैसा करे तो प्राणाय स्वाहा करता है तो पक्ष युक्ति च प्राणाय स्वाहा हुतम प्राणाय स्वाहा ऐसा करके हवन किया हुआ जो कलेवर है आपका ग्रास है वह हवी जो हुतम हवी जो ग्रास डाला गया मुख में डाला गया ग्रास है सर्वम ये तत्तर्प यदि सारे के सारे को तृप्ति करता है बोला वहां बोला हुआ है पंचम अध्याय के उन्नीसवें खंड में है प्राण तृप्यति प्राणे तृप्यति चक्षु तृप्यति चक्षु तृप्यति आदित्य तृप्यति आदित्य तृप्यति देव तृप्यति देव तृप्यति सर्वाणु भूतानि तृप्यंति ऐसा वाक्य आया है सब तृप्त हो जाते हैं प्राण के तृप्त होने पर ऐसा आया है पंचम अध्याय उन्नीसवें खंड में है तो बक्षति ही एक ही देवता है प्राण ये क्यों प्राण के तृप्त होने पर सब तृप्त हो रहे हैं पंचम अध्याय में दिखाएंगे बातें एक प्राण तृप्त हो गया आपने एक ग्रास डाल दिया प्राण स्वाहा करके डाला हुआ है उससे प्राण तृप्त हो गया प्राण के तृप्त होने पर चक्षु तृप्त होगी चक्षु तृप्त होने पर आदित्य तृप्त होगा आदित्य तृप्त होने पर दिवलोक तृप्त होगा दिवलोक तृप्त होने पर सर्वाणी भूतानी तृप्त सारे तृप्त हो जाते हैं ऐसा तो इसीलिए प्राण एक ही देवता है एक हाथ प्राणवायु देवता एव ही एका एक ही देवता है प्राणवायु चक्षु आदित्य सह आश्रय कहा चक्षु भी प्राण है आदित्य भी प्राण है और इनका जो आश्रय होगा जहां ये आश्रित होते हैं माने आश्रय शब्द से क्या लेंगे चक्षु का आश्रय रूप होगा और आगे रूप का आश्रय हृदय होगा इत्यादि उसे प्राणी होता है ये कहा तदेत प्राणाख्यम स्वर्गलोक द्वार पालत्व ब्रह्म ये जो प्राण नामक ब्रह्म है तदेत मानी प्राणाख्यम ब्रह्म ये प्राण नामक ब्रह्म है तदेत तेजस्वी अन्नाद अन्नाद्यम उपासिता ऐसा है तदेत से प्राण को लेना है प्राण नामक ब्रह्म प्राण शब्द तो पुलिंग है वहां एतत् शब्द नपुंसक किया हो तदेत मानी क्या है प्राण नामक ब्रह्म तदेत प्राणाख्यम ब्रह्म कहा प्राणाख्यम स्वर्गलोक द्वारपालत्व ब्रह्म क्यों वो स्वर्गलोक के द्वारपाल है परमात्मा के भवन का द्वारपाल इसलिए वो ब्रह्म कहा उसको बड़े आदमी के चपरासी हो इसलिए ब्रह्म शब्द दिया उसको ये कहा स्वर्गलोक द्वारपाल स्वर्गलोक माने हार्द हार्द ब्रह्म स्वर्गलोक है उसके द्वारपाल है इसलिए वो ब्रह्म कहा प्राण को स्वर्गम लोकम प्रतिपिक्षु जो स्वर्गलोक चाहता है जो व्यक्ति स्वर्ग माने या हार्द ब्रह्म हृदय में जो ब्रह्म है स्वर्गम स्वर्ग शब्द से शिव कहा गया है आर्द ब्रह्म को स्वर्ग शब्द से प्रयोग किया हुआ टीका में दिखाएंगे पंक्ति बताएंगे हम्म। स्वर्ग शब्द यहां पर माने वो वो स्वर्ग नहीं स्वर्ग माने हार्द ब्रह्म यहां हृदय के भीतर जो ब्रह्म है स्वर्ग लोकम प्रतिपिक्षु जो स्वर्गलोक चाहने वाला व्यक्ति है हार्द ब्रह्म चाहने वाला व्यक्ति है जीवत्व को समाप्त करके ब्रह्मत्व में जाना चाहता है हार्द ब्रह्म में पहुंचना चाहता है जो व्यक्ति हो तेजस्वी एतत् चक्षुर आदित्य स्वरूपे न अन्नदत्वाच सबितु कहते हैं तेजस्वी तेजस्वी अन्नाद्यम इति उपासिता ऐसा आया है उसको तेजस्वी रूप से उपासना करें तेजो अन्नाद्यम इति उपासिता आया है तो तेजस्वी ये चक्षुर आदित्य स्वरूप कहते ये तीनों तेजस्वी है कौन चक्षु और आदित्य तेजस्वी होते तेज तेज तेज रूप है वो इसलिए तेजस्वी गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करनी है प्राण से अभिन्न है दोनों और आदित्य और चक्षु आदित्य तेज स्वरूप है दोनों तेजस्वी ये तो चक्षु तेजस्वी ये चक्षु और आदित्य आदित्य स्वरूपेण स्वरूप तो तेजस्वी है दोनों कौन चक्षु भी तेजस्वी है आदित्य भी तेजस्वी है इसलिए तेजो अन्नाद्यमित उपासित ऐसा आया है तेजस्वी होने के कारण और आदित्य में दूसरे भी एक धर्म गुण है माने ये दोनों में एक समान गुण है चक्षु और आदित्य में तेजस्वी गुण और दूसरा गुण आदित्य में विशेष का अन्न तत्वाच सवित हो अन्न देने वाले सविता है सूर्य के द्वारा अन्न पकता है सूर्य न हो तो अन्न नहीं पकेंगे अन्न देने वाले हैं सविता इसलिए भी अन्नाद्य रूप से उपासना करती है सविता में दो गुण दिखाई दे रहा है प्राण से अभिन्न है चक्षु भी अभिन्न है सविता भी अभिन्न है किंतु चक्षु तो तेजस्वी मात्र है और सविता तेजस्वी भी है और अन्नदा भी है अन्नदा अन्न देने वाला है वो इसलिए इस गुण विशिष्ट करके तेजो अन्नाद्यम इति आभ्याम गुणा गुणाभ्याम उपासना का इसलिए वो तेजस्वी है देवता यहां इसलिए क्या करना तेज रूप से उपासना करना अन्नाद्य रूप से उपासना करना प्राण की उपासना <clears throat> फल क्या होगा तो वो बता फल वाक्य बताते हैं ऐसे तेजस्वी और अन्नाद्य वाले की उपासना यदि करेगा तो वही होगा तम यथा यथा उपासना तथा ही भगवती जैसे जैसे उपासना कर तेजस्वी की उपासना करेगा तेजस्वी बनेगा अनाद्य वाली उपासना करेगा अनाद्य हो चक्षु और आदित्य दोनों तेजस्वी हैं और आदित्य दूसरे गुण भी उसमें है अनाद्य भी है अन्न देने वाला है अब ततः ऐसे देवताओं की उपासना से क्या फल आएगा तो कहते तेजस्वी अन्नादश्च आमयावित्व रहितो भवती तेजस्वी होगा ये भी समाज में ओजस्वी बनेगा तेजस्वी होगा और दूसरा अन्नारस को तृप्ताग्नि होगा ये जाठलाग्नि प्रबल होगी जो खाए पचेगा उसको ऐसा माने तो रहित तो भवती रोग आदि से रहित तो होगा वो रोगी व्यक्ति क्या खाएगा पेट का रोगी होगा खा नहीं सकता रोग से रहित तो होगा या अन्नादस का अन्न तो सभी खाते हैं किंतु अन्न खाने पर पसना है तो क्या अन्न खाया उसने आमयावित्व रहित तो भवती कहा आमयावित्व तो रहित हो जाएगा ये कहा या एवं वेदा तस्य एक गुण फलम ये ये गौण फल है और मुख्य फल तो होगा हार्द ब्रह्म की प्राप्ति उपासना ने वशीकृतो द्वारप उपासना के द्वारा जो द्वारपाल द्वारम पाती थी द्वारपा द्वार की रक्षा करता है इसलिए उसको द्वारपा कहते हैं द्वारपा द्वार की रक्षा करता है तो उपासना है ना वशीकृतो द्वारपाल उपासना के द्वारा अपने अधीन किया हुआ द्वारपाल स्वर्गलोक प्राप्ति हेतु होती है स्वर्गलोक प्राप्ति का हेतु हो जाता है इति मुख्यम च फल ये मुख्य फल यह है टिप्पणी की एक आमयावित्व में आमय शब्द से विधि प्रत्यय किया हुआ है कहते हैं और आमय शब्द को दीर्घ भी हुआ है वार्तिक दिया व्याकरण में वार्तिक है आमय से उपसंख्यानम दीर्घस्य विनिर्दीर्घस्य कहा अस्माया मेधा सृजो बिनी सूत्र है अस्माया मेधा सृजो बिनी उस सूत्र में वार्तिक दिया है आमाय से उपसंख्यान दीर्घ से आमाय शब्द से भी बिनी प्रत्यय कहना चाहिए और आमाय को दीर्घ भी कहना चाहिए तो आमया भी ऐसा पर आया हुआ है कहा टीका से देखिए द्वारपाल आदि इति आदि पदे न तदगतो विशेष गृहते भाष्य में कहा था द्वारपालादि बोल दिया था द्वारपालादि गुण विधानार्थम आरभ्य थे तो आदि से क्या लेना द्वारपाल में जो विशेषता है क्या विशेषता है वो चक्षु भी उससे अभिन्न है आदित्य उसे अभिन्न है दिवलोक आदि उसे अभिन्न है ये दिखाना है विशेषता तेजस्वी गुण है अन्नाद्य गुण है ये गुण विशेषता होगी द्वारपालादि इति आदि पदे ना भाष्य में जो द्वारपालादि कहा आदि पद से क्या लेना तदगत विषय द्वारपाल का जो विशेष होगा तदगत द्वारपालगत विशेष गृहते कहा ब्रह्मणी उपासन तो द्वारपाल उपास्थिर अयुक्त इति आशंका ब्रह्म के उपासना में उपासना ब्रह्म की है यहाँ किंतु ये जो प्रसिद्धि नहीं कि उपासना ब्रह्म की उपासना में द्वारपाल की भी उपासना करे ऐसी कोई प्रसिद्धि तो है ही नहीं तो यह द्वारपाल की उपासना क्यों कर रही यह शंका है ब्रह्मणी उपासन हाँ, अप्रसिद्धि तो द्वारपाल उपास्थिर अयुक्ता जो अप्रसिद्धि है द्वारपाल की उपासना प्रसिद्धि नहीं ब्रह्म की उपासना में ये ठीक नहीं उसकी उपासना कहना अयुक्त है द्वारपाल की उपासना शंका आ गई उसके उत्तर देंगे यथा इत्यादि कहते हैं टिप्पणी एक नंबर की ब्रह्म विषय उपासना है ना सह जो ब्रह्म विषय उपासना चल रही है हार्द ब्रह्म की उपासना है उसके साथ द्वारपाल उपासना अयुक्ता द्वारपाल की उपासना ठीक है कहा राजा की उपासना कहा चपरासी की उपासना एक साथ ये ठीक नहीं ब्रह्मणो द्वारपालाम अप्रसिद्ध ब्रह्म का द्वारपाल कोई प्रसिद्ध नहीं है राजा का द्वारपाल होता है ब्रह्म का प्रसिद्ध नहीं ये शंका आई तो इस शंका को उत्तर देते यथा इत्यादि कहा अरे बाबा जैसे लोक में होते हैं बड़े आदमी के द्वारपाल होते हैं यथा लोके द्वारपाल राज्य उपासना प्रसिद्धता राज प्राप्त था भवंती तथा यापी इत्यादि कहा जैसे लोक में द्वारपाल जो होते हैं दरवाजे में बैठने वाले वाचमैन राजा के द्वारपाल राज्ञा द्वारपाला राजा के द्वारपाल उपासना में वशीकृता जब उपासना के द्वारा उसको अपने अधीन करेंगे तो राज की प्राप्ति के लिए हो जाते हैं राज दर्शन कर सकेंगे आप ठीक इसी प्रकार यहां भी है वो प्राणादि बाहर बैठे हैं प्राण व्यान अपान समान उदान पंच प्राण बाहर हैं पांच दरवाजा है हृदय को हृदय में पांच छिद्र है पांच दरवाजे हैं उसके भीतर ब्रह्म है वहां जाना है ब्रह्म के पास जाना है तो पहले द्वारपाल की उपासना करनी पड़ेगी ये कहना चाहते हैं <clears throat> अच्छा इति तद उपास्थित अर्थवती इसलिए तद उपास्थित द्वारपाल उपास्थित द्वारपालों की उपासना अर्थवाली है क्यों भीतर जाने मिल जाएगा स्वर्गलोक शब्द परमात्मा विषय या स्वर्गलोक शब्द है स्वर्गलोक शब्द क्या है स्वर्गलोक प्राप्ति द्वार छिद्राणी आया है स्वर्गलोक माने परमात्मा का विषय करता है यहाँ स्वर्गलोक माने देवताओं का निवास लोक नहीं है परमात्मा है आर्द ब्रह्म है स्वर्गलोक स्वर्गलोक शब्द परमात्मा विषय है यहाँ पर आया हुआ स्वर्गलोक शब्द परमात्मा को विषय करता है क्यों स्वर्गम लोक लोकम इत उर्दो विमुक्ता इति श्रुति अंतर अन्य श्रुति में ऐसा आया अन्य श्रुति है इत विमुक्ता ऊर्धम ऊर्धो ब्रह्मलोकम स्वर्गम लोकम यहां से जो विमुक्त हुए लोग हैं हाँ, मुक्त हो गए जो लोग यहां से वो लोग इत ऊर्ध यहां से आगे कहा जाएंगे स्वर्ग लोग जाते हैं माने स्वर्ग कहाँ जाएंगे मुक्त लोग विमुक्त लोग विशेष रूप से मुक्त हो गए उस स्वर्ग कौन स्वर्ग ब्रह्म लोग तो ब्रह्म है वो ये कहा ये श्रुति है स्वर्गम लोकम इत ऊर्धो विमुक्त ऐसी श्रुति है हाँ, विमुक्त लोग जो मुक्त लोग हैं विशेष रूप से मुक्त हैं ऐसे लोग इसके इस शरीर के पश्चात क्या होगा कि स्वर्ग लोग स्वर्ग तो लोग माने मुक्त लोगों का स्वर्ग लोग तो आत्मलोक है वो ऐसा स्वर्ग है ये कहा देवसु सिद्धम साधयती पांच छिद्र है कहा देवसुषि माने देवताओं का छिद्र निवास है कहा देवई देवई प्राण आदि इत्यादि रक्षमाणानी ये छिद्राणी ये कहा था देवताओं के द्वारा रक्षित है दरवाजा भीतर कोई जा नहीं सकता सुरक्षित है दरवाजे सब देवता कौन प्राण आदि इत्यादि के द्वारा प्राण चक्षुमान जागर लक्ष्यमान इति इतो देवशुषा यह तस्य स्वर्गलोक भवन से हृदया शिष्य प्राण शिशु इत्यादि कहा टीका में कहते हैं स्वर्गलोक से परमात्मा स्वर्गलोक यहाँ परमात्मा है इस मंत्र के स्वर्गलोक यहाँ का स्वर्गलोक शब्द का अर्थ परमात्मा स्वर्गलोक से परमात्मा हो तो स्वर्ग का दो अर्थ होता है यम दुखे न सब एक तो लोक विशेष है ही है देवता आदि राज्य करे इंद्र जहां राजा है सब कुछ है जैसे यहाँ की व्यवस्था ऐसे स्वर्ग की व्यवस्था हाँ, यहाँ से मरने वाले वहां पहुंच जाते हैं स्वर्ग लोग है ये लोक विशेष है और एक ऐसे लोक विशेष नहीं आत्मा को भी स्वर्ग कहा यह न दुखे रसम भिन्नम न च्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतिम च तत्स्वर्ग बना ऐसा कहा हुआ जहां दुख का नाम निशान न हो न दुखे रसम भिन्नम दुख का नाम निशान न हो देखो जागृत और स्वप्न में दुख है सुसुप्ति में जो दुख नहीं होता उसके भी ऊपर की अवस्था आत्मलोक है वो तुरीय अवस्था वहां दुख का नाम निशान नहीं होता दुख दुखे न सम न तो ग्रस्तम अनंतरम एक बार मिल गया तो दोबारा नाश भी नहीं होता उसका आत्मलोक मिलने के बाद नाश नहीं होगा ये स्वर्ग तो नाश हो जाता है छिड़े पुण्य मर्द लोग एवं त्रय धर्म का अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम अलवंत आदि कहा है ये स्वर्ग नाशवान है आत्मलोक नाश नहीं होता यंड दुखे न संभिन्नम न ग्रस्तम अनंतरम एक बार मिल गया उसके बाद ग्रसित नहीं होता और अभिलाषोपनीतम च सबकी अभिलाषा होती है सबकी मांग है अभिलाषा क्या मांग है सुख सुखम में भूया दुखम में माभूत मुझे दुख न हो मुझे सुख हो सुख की सब कामना करते हैं और सुख रूप आत्मा आनंद आनंद स्वरूप आत्मा है नित्यंत्र सबके अभिलाषा मांग के पात्र रहे जो तत्सुखम स्वपदास्पद उसी सुख विशेष को स्वर्ग पद का आश्रय बताया है स्वपद से स्वर्ग पद से उसी को कहा जाता है मैंने आत्मा को ही स्वर्ग विशेष स्वर्ग वही होता है ऐसा कहा गया है वो स्वर्ग है अच्छा तो टीका में ही कहते हैं स्वर्गलोक से परमात्मनो भवनम स्वर्गलोक का भवन है ये परमात्मा स्वर्गलोक मान परमात्मा का एक भवन है हृदय भवन मान आयतनम उसका निवास स्थान है तस्य तस्य हृदय से का अर्थ किया उसके जो पूर्व दिशा में एक छिद्र है वहां उस छिद्र में छिद्र में प्राण रहता है वो दरवाजे में प्राण बैठा हुआ ये कहते हैं प्राप्त अनवस्थान में उत्तम पूर्वाभिमुख से तो प्रांग इतने बोलते प्रांग सुशी इतना बोलेंगे मंत्र में जैसे प्रांग सुशी कहा हुआ है तो पूर्व कहने से अनवस्था होती है कहां से पूर्व व्यवस्था नहीं बनती है पूर्व मात्र से कोई व्यवस्था नहीं बनती अमुक जगह से पूर्व कहना पड़ेगा पूर्व कहने से कोई एक विशेष अवधि बताना पड़ेगा यहां से पूर्व नहीं तो पूर्व कहने से नहीं होता जहां हम बैठे हैं ये तो पूर्व भी है किसी की अपेक्षा पूर्व होगा किसी की अपेक्षा पश्चिम होगा किसी का दक्षिण अपेक्षाकृत होते हैं पूर्वादि शब्द दिशावाचक शब्द है अपेक्षाकृत पूर्व माने कहां से पूर्व ऐसा मानना पड़ेगा तो कोई अवधि देनी पड़ेगी ये स्थान जहां हम बैठे हैं पूर्व भी है पश्चिम भी है दक्षिण उत्तर चारों रूप बनेगा ये हम जब चीन की तरफ से देखते हैं तो दक्षिण है ये ऐसी स्थिति है और ऋषिकेश के तरफ देखें तो उत्तर बनेगा ये ऐसी स्थिति है उत्तर में आएगा और इधर की तरफ देखेंगे विमलेश्वर की तरफ देखेंगे पूर्व बनेगा ये कुछ भी बन सकता है तो अवधि देनी पड़ेगी तो इसे अवधि देना चाहते हैं मतलब पूर्वाभिमुख से कहा प्राण से पता करें पूर्वाभिमुख जो छिद्र है ये कहा यहाँ प्रांग माने पूर्व दिशा नहीं पूर्व की तरफ में जो दरवाजा है हृदय में चार दरवाजे हैं जो पूर्व दिशा की तरफ दरवाजा है वो दरवाजे की बात कर रहे हैं प्राण पूर्वाभिमुख से प्रागतम यह छिद्रम पूर्व की तरफ पड़ा हुआ जो छिद्र है द्वार छिद्र बने द्वार सब प्राण इत्यादि कहा था <clears throat> टीका में कहते हैं प्राप्त अनवस्थान आसंख्य पूर्वाभिमुख से कहा केवल प्राण बोलने से अनवस्था दोष आने की संभावना थी इसलिए पूर्वाभिमुख बोल दिया तस्थ आगे कहा प्राण वो दरवाजा नहीं है दरवाजे में स्थित है तस्थ तस्मिन तिष्ठती तो उस दरवाजे में स्थित है प्राण पूर्व दरवाजे को बिठा है रक्षक है वो तेरह द्वारे या संचरित पूर्व द्वार से जो विचरण करता है वायु विशेष है वो सब प्राग अनिति प्राण पूर्व की तरफ चलने से प्राण कहा उसको ये कहा टीका में तत्शब्दो हृदय विषय तत्थ में जो तत्शब्द आया तत्मानी क्या हृदय हृदयस्थ जो प्राण है आगे तेन इत्यादि मंत्र बताए तेनैव तेनैव संबद्धम अव्यतिरिक्तम तत्चक्षु तथैव सादित्य इत्यादि कहा उसी प्राण तेन ने प्राण तेरव प्राण उस प्राण के साथ ही संबद्धम एक एक हुआ अव्यतिरिक्तम तत्चक्षु अभिन्न है चक्षु प्राण से भिन्न नहीं होती चक्षु कैसे टीका में बोलते हैं प्राण विषय तत्शब्द तेरव में जो तेरह तृतीयांत है तो प्राण के विषय करता है प्राण ही नहीं हो जाएगा प्राण के साथ ही एक होना तद अव्यतिरिक्त प्राण से अभिन्न है कहते हैं चक्षु को कैसे अभिन्न है या दिखाते हैं तद अव्यतिरिक्त मैंने स्वातंत्र हो अकिंचित कर प्राण नहीं है तो स्वतंत्र रूप से चक्षु कुछ भी नहीं कर सकती है प्राण जब तक सहारा देगा तब तक चक्षु काम करती है प्राण के सहयोग नहीं मिलेगा तो चक्षु कोई काम नहीं कर सकती प्राण निकल जाए तो चक्षु क्या करेगा यही कहा यहाँ अव्यतिरिक्त अर्थ यही है स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर सकती चक्षु इसलिए अभिन्न है कहा तद अव्यतिरिक्त मान प्राण से अव्यतिरिक्त मान क्या स्वातंत्र चक्षुषो अखिंचित करता हूं स्वतंत्र रूप से चक्षु में कुछ भी नहीं कर पाना यही है नहीं चक्षुषा प्राण संबंधो यहाँ नई के स्थान में टिप्पणी करते हैं सही पाठ हो तो अच्छा होता बोलते हैं सही चक्षुषा प्राण से संबंध हो वही है माने चक्षु का चक्षु के साथ प्राण का संबंध वही है क्या संबंध है प्राण के बिना चक्षु कुछ काम नहीं कर सकते ये संबंध है जब संबंध होने पर चक्षु काम करते हैं नहीं के स्थान में सही पाठ होना चाहिए टिप्पणीकार कहते हैं नहीं इत्यादि अनंत पाठ टिप्पणीकार कह रहे हैं ये नहीं इत्यादि पाठ संबंधित नहीं होता अन्वय नहीं बनता इसका नहीं के साथ सही इति व पाठम प्रकल्प सही पाठ के कर सही होना चाहिए पाठ ऐसा कल्पना करके पाठ तो नहीं है किंतु कल्पना करके सही चक्षुषा प्राणस्य च वही चक्षु और प्राण का दोनों का संबंध यही है माने क्या संबंध है प्राण के बिना चक्षु में कुछ नहीं कर पाना अब व्यतिरिक्त संबंध यही है यदि पूर्वक विशेषत्व व्याख्या पूर्व के कथन के शेष रूप से व्याख्या करनी चाहिए ऐसा कहा तो सही चक्षुषा प्राण संबंध तथैव यथा प्राण से चक्षुष्टम इत्यर्थ उसी प्रकार से तथैव यथा प्राण से चक्षुष्टम जैसे प्राण में चक्षुष्ट है कहा प्राण आदित्य और ऐक्य प्रमाण महा प्राण और आदित्य में ऐक्य एक होने में प्रमाण देते हैं चलो चक्षु और प्राण को एक माना जाएगा स प्राण स चक्षु तत्चक्षु स आदित्य ऐसे बोला है वही प्राण है वही चक्षु है वही आदित्य है कहा एक ही को बोला ये तो तत्चक्षु को तो कैसे घटा दिए प्राण के बिना चक्षु कोई काम नहीं कर सकते ठीक है किंतु स आदित्य प्राण कैसे आदित्य होगा आदित्य भी प्राण कहा कैसे तब कहते हैं आगे प्राण आदित्य और ऐके प्रमाण महा उसके लिए प्रमाण श्रुति प्रमाण देते हैं प्राण और आदित्य में एकता होने में प्रमाण देते हैं आदित्यो हवई बाह्य प्राण हाँ, ये श्रुति है जो प्रसिद्ध जो आदित्य है ये बाह्य प्राण है भीतर के प्राण तो आभ्यंतर प्राण है आदित्य बाह्य प्राण है प्राण ही है वो ऐसा कहा श्रुति इति श्रुते ऐसा कहा ठीक है कथम यथोक्त से आदित्य से हृदय सुषि द्वारा स्थानित्व नहीं बाह्य से तत्संबंधित निबंधन वस्ती कहते आदित्य बाहर है और प्राण भीतर है तो वो प्राण के साथ एकता कैसे हो पाएगी आदित्य का वो तो बाहर है और प्राण भीतर है ये शंका है कथम यथोक्त से आदित्य से वो जो पूर्वोक्त आदित्य है वादित्यता हृदय सुशी द्वारा स्थानित्व हृदय के जो सुशी है द्वार है उसमें रहने वाला कैसे होगा प्राण कैसे बनेगा द्वार स्थान वाला कैसे बनेगा नहीं बाह्य से तत्संबंधी निबंधन बाह्य बाहर रहने वाला का भीतर में हृदय में संबंध होने में कोई मूल कारण नहीं मिलता है कोई कारण नहीं ये शंका आ गई उसके उत्तर में कहते हैं इस माध्यम से आदित्य यहां भीतर प्राण में हृदय में आ जाता है किस रूप किस संबंध से आएगा चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमण हृदय स्थित आदित्य आदित्य हृदय में स्थित है आदित्य सीधा सीधा नहीं परंपरा से आता है आदित्य का संबंध है चक्षु के साथ और चक्षु का संबंध रूप के साथ और रूप वासना रूप से हृदय में है अपने रूप से बाहर है और वासना रूप संस्कार रूप में हृदय में है रूप इस रूप से आदित्य हृदय में पहुंच जाता है ये बोलते हैं ये कहा था चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमेण प्रतिष्ठित इत्यादि कहा टीका में अधिष्ठातृत्व आदित्य चक्षुषी चक्षु का अधिष्ठाता है अनुग्राहक है आदित्य इसलिए अपने विषय में वो रहेगा चक्षु में रहता है आदित्य संबंध है चक्षु के साथ आदित्य का ये टीका में कहा अधिष्ठातृत्व आदित्य चक्षु का अधिष्ठाता है चक्षु आलोक के बिना चक्षु काम नहीं कर सकती प्रकाश के बिना काम नहीं कर सकती है तो क्यों उसके अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदित्य है चक्षु का अधिष्ठातृत्व अधिष्ठाता होने से आदित्य चक्षुषी प्रतिष्ठित है आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित है और चक्षुष जो चक्षु है ग्राहकतया रूपे चक्षु ग्राहक है किसका रूप का रूप ग्राह्य है चक्षु ग्राहक है तो ग्राहक रूप होने के कारण रूप में बैठेगा चक्षु आदित्य चक्षु में है और चक्षु रूप में है ग्राहक होने से रूपे प्रतिष्ठितम चक्षु रूप में प्रतिष्ठित है रूप दर्शन में करणी भवती कहते हैं रूप दर्शन में कर्ण बनता है चक्षु जब आप रूप देखना चाहेंगे नील नील पितादि रूप तो चक्षु कर्ण बनेगा रूप दर्शन ही भवती तीन नंबर की टिप्पणी कहा रूपे प्रतिष्ठितम इत्यस्व टिप्पणम रूप दर्शन करणी भवती जो रूप रूपे प्रतिष्ठितम जो कहा था उसी की व्याख्या है टिप्पणी है रूप दर्शन कारण भवती इत्यादि बताया और और जो रूप जो है वासनात्मनाथ हृदय रूपाणी ही और वासना रूप से संस्कार रूप से ये देवी रूप बाहर है किंतु संस्कार रूप में भीतर है वासनात् मनाच हृदय रूपाणी प्रतिष्ठितानी संस्कार रूप से हृदय में रूप प्रतिष्ठित है इस संबंध से आदित्य हृदय में पहुंच जाता है हाँ, पहला संबंध रूप में होगा रूप का संबंध पहला संबंध चक्षु में आदित्य का चक्षु का संबंध रूप में और रूप का संबंध हृदय में ऐसा तदा अनेक क्रमेण आदित्य हृदय तिष्ठ इस क्रम से हम्म। तदा के स्थान में तथा पाठ होना चाहिए टिप्पणीकार करते हैं यही टिप्पणीकार का कहना है तदा का अर्थ कहा अत्र तथा चाहिए उत्तर प्रतिभा की पाठ है तदा के स्थान में तथा च होता तो अच्छा होता पाठ ये कहा ये कहना चाहते हैं तदा अनैन क्रम इस क्रम से आदित्य हृदय तिष्ट आदित्य हृदय में पहुंच जाता है और प्राण के साथ एक हो जाता है तत्र श्रुत्यंतरम प्रमाण आदित्य हृदय में पहुंच जाता है कहा गया अन्य स्तुति को प्रमाण देते हैं कहा पांच नंबर में कहा यथोत क्रमण आदित्य से हृदय हृदय प्रतिष्ठित इस जैसे क्रम बताया आदित्य रूप चक्षु में प्रतिष्ठित चक्षु रूप में प्रतिष्ठित रूप हृदय में प्रतिष्ठित कहा था इस क्रम से आदित्य को हृदय में प्रतिष्ठित होने में अन्य श्रुति है कहते प्रमाण देते हैं स आदित्य इत्यादि स आदित्य कस्मिन प्रतिष्ठित इति ऐसा पूछा साकल्य ने वो आदित्य कहाँ प्रतिष्ठित है तो याज्ञवल्य बोले कहा चक्षुषी आंख ऐसा कहा इत्यादि क्रम बताया है इत्यादि बाधन एक इत्यादि वृद्धार्ड में ऐसा कहा है ठीक है एक देवता अभिन्नत्व अभी प्राणाभेदे न चक्षुरादित्य आध्याम युक्तम कहते हैं एक ही देवता है जो प्राण है वही चक्षु है जो चक्षु है आदित्य है एक ही होने से एक दे, एक देवता अभिन्नत्वाद अभी अभिन्न होने से एक देवता विशेष होने के कारण प्राण अभेदे न प्राण के साथ अभेद करके चक्षुर आदित्य और आध्यान युक्त चक्षुर आदित्य के उपासना युक्त है क्योंकि प्राण की उपासना हो रही तो चक्षु की भी हो जाती है आदित्य क्यों अभिन्न है इत्या प्राण इत्यादि कहा प्राणवायु देवता ये वही एका एक ही प्राणवायु देवता है वही चक्षुर आदित्य का चाहे चक्षु हो चाहे आदित्य उसका जो आश्रय के सहित आश्रय रूप होगा दिवलोक होगा आदित्य का आश्रय होगा दिवलोक चक्षु का आश्रय होगा रूप आदि जो भी होगा इसके साथ ये कहा कहते हैं टीका है कहते हैं आश्रय शब्द ना रूपाणी हृदय से उच्चते दिवलोक वाह आश्रय शब्द से रूप लेना है चक्षु का आश्रय क्या है रूप आदित्य का आश्रय है चक्षु चक्षु का आश्रय रूप रूप का आश्रय हृदय ऐसा ले सकते हैं अथवा आदित्य का आश्रय दिवलोक भी ले सकते हैं आदित्य चक्षुषोर दिवस तद अधिष्ठित सर्वस्व प्राणात्मत्व वाक्य शेष अनुकूल आदित्य चक्षु और दिवलोक और उसमें दिवलोक में अधिष्ठित जो कुछ भी प्राणी होंगे सब प्राण स्वरूप है आगे बाकी शेष आएगा कहा पंचम अध्याय में दिखाएंगे प्राण तृप्यति चक्षु तृप्यति चक्षु तृप्ति आदित्य भी ऐसे ऐसे ऐसे बात आएगा एक आदित्य चक्षु हो आदित्य और चक्षु के और दिवलोक उसका अधिष्ठान दिवलोक अधिष्ठित और दिवलोक में रहने वाले सारे के सारे प्राणात्मत्य प्राण रूप है सब या चक्षु प्राण रूप हो गया चक्षु के माध्यम से आदित्य प्राण रूप है आदित्य प्राण रूप होने पर दिवलोक प्राण रूप होगा दिवलोक में रहने वाले सब प्राण रूप हो जाएंगे इसलिए सारे तृप्त होंगे प्राण में प्राणाय स्वाहा करके डाला हुआ अन्न सब तृप्त हो जाता है पंचम अध्याय में इसका संबंध दिखाएंगे ये ये कहते हैं दिवा छह नंबर की कहा दिवा दिवलोक से दिव मान दिवलोक और देवलोक में रहने वाले जितने हैं सब तृप्त होते हैं प्राण तृप्त होने पर वहां तक पहुंच जाता है ऐसा कहा हुआ है एक बक्षती च प्राणाय स्वाहा उत्तम अभी ये आगे कहेंगे श्रुति कहेगी आगे प्राणाय स्वाहा ऐसा करके हवन किया हुआ जो अभी है हाँ, ग्रास है वह सर्वम ये तर्पयती सबके सबको तृप्त कराती वो अभी तो अभी सबको तृप्त कराती माने प्राण तृप्त होगा पहले प्राणय स्वाहा कहा प्राण तृप्त चक्षु तृप्त होगा अभिन्न है चक्षु तृप्त होने आदित्य अभिन्न तृप्त होगा आदित्य तृप्त होने उसे अभिन्न दिवलोक तृप्त होगा द्यूलोक तृप्त होने दिवलोक निवासी तृप्त होंगे सब तृप्त हो जाएंगे ऐसा कहा हुआ है राष्ट्र में कहते तदे तत् प्राणाख्यम स्वर्गलोक द्वारा पालक ब्रह्म तदे तत् आगे मंत्र है तदे तत् तेजस्वी अन्नादो तेजस्वी अन्नाद्यम चैत उपासित उसी ब्रह्म की उपासना करे तेजस्वी और अन्नाद्य रूप से तेजो अन्नाद्यम उपासिका ऐसा आया है उसका ये तदे तद का अर्थ करें तदे तद माने क्या है कहते हैं प्राणाख्यम स्वर्ग लोग द्वार पालत्वा प्राणाख्यम ब्रह्म ब्रह्म शब्द से प्राण क्यों उस परमात्मा का द्वारपाल है स्वर्गलोक का द्वारपाल है इसलिए ब्रह्म कहा ठीक है नहीं प्राणे तृप्ति सर्वस्व तृप्ति ही तादात अंतर देखो एकता यदि न हो तो एक व्यक्ति के तृप्त होने पर सब तृप्त होना संभव नहीं है यहाँ श्रुति में लाइन से दिखाएंगे पंचम अध्याय में जाकर के पंचम अध्याय के उन्नीसवें खंड में देखना हाँ, प्राण त्रिपति प्राण त्रिपति आज चक्षु त्रिपति इत्यादि वाक्य आएगा ये कह रहे हैं हाँ। <clears throat> नहीं प्राणे तृप्यति एक व्यक्ति प्राण के तृप्त होने पर सर्वस्व तृप्ति न सबकी तृप्ति होना संभव नहीं है तादात्मा यदि तादात्म्य नहीं है एकता नहीं है तो सबकी तृप्ति होना संभव नहीं एक के खाने पर सबकी पेट नहीं भरता इसके मतलब तादात्म्य है सबका एक है सब प्राण चक्षु आदित्य दिवलो दिवलो निवासी सब एक हो जाते हैं तादात्म्य है एक पंचम अध्याय दिखाएंगे कहा तदे तद प्राणाख्यम ब्रह्म स्वर्गलोकम प्रतिदिक्षु वो जो प्राण नामक ब्रह्म की उपासना करनी है कौन उपासना करेगा स्वर्गलोक चाहने वाला प्राप्त इच्छु प्रतिकित्सु जो प्राप्त करना इच्छुक है हार्द तो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है वो स्वर्गलोक है हार्द तो ब्रह्म एक तदे तद प्राणाख्यम ब्रह्म उपासिता ऐसा आएगा तदे तद उपासिता तेजो अन्नाद्यम उपासिता ऐसा है तेज रूप से और अन्नाद्य रूप से उपासना करे उस ब्रह्म की कहा कौन उपासना करे तो का स्वर्गलोकम प्रतिपित जो हार्द तो ब्रह्म चाहता है तदेक प्राणाख्यम ब्रह्म स्वर्गलोकम प्रतिपितु सम स्वर्गलोक चाहता हुआ पुरुष ऐसे पुरुष तेजो अन्नाद्यम यदि आभ्याम गुणाभ्याम विशिष्टम उपासित ये दोनों गुण विशिष्ट करके उपासना करे तेजो अन्नाद्यम यदि उपासित हुआ उसी का अर्थ किया किमिति यथोक्तो अधिकारी प्राणोपासन जो इस प्रकार के जो अधिकारी है अधिकारी कौन स्वर्गम लोकम प्रतिपिक्षु कहा जहार्थ ब्रह्मलोक चाहने वाला वही उपासना करे किम यदि यथोक्त अधिकारी हार्द ब्रह्म को चाहने वाला अधिकारी प्राणोपासन में क्यों नियुक्त किया जाता है उसको तो कहा स्वर्गम इत्यादि कहा स्वर्गलोकम प्रतिपिक्षु बोल दिया स्वर्गलोक चाहता है ना वो हार्द ब्रह्म चाहता है इसलिए उपासना करें तथापि कथम यथोद गुण दो वैशिष्टम प्राणाख्य से ब्रह्म सिद्धति फिर भी ये दो गुण प्राण नामक ब्रह्म में दो गुण कैसे सिद्ध होगा तेजस्वी गुण और अन्नाद्य गुण कैसे सिद्ध होगा ये शंका आ गई तत्र तेज शब्द व्याकुर्व महा वह तेज शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं तेजस्वी इत्यादि कहा तेजस्वी एत चक्षु ये जो चक्षु है ना ये तेजस्वी है तेज तेज तेज है तेज का कार्य है और आदित्य स्वरूपेणम हाँ, स्वरूपता आदित्य भी तेज है आदित्य तेज है चक्षु भी तेज है और अन्नदत्वाच सवित और दूसरा बात अन्नाद्य भी इसलिए है प्राण हो जाता है सविता कैसा अन्न देने वाला भी है इसलिए प्राण हो गया तेज उससे अभिन्न है पक्षी और आदित्य से अभिन्न होते तेजस्वी गुण भी है इसमें और अनाद्य गुण भी है प्राण एक कहा ठीक है कहते ये तत्त प्राणाख्यम ब्रह्म उभय रूपेण दोनों रूप से है ये तेजस्वी भी है नाट्य भी है क्यों तेजस्वी तथा उभय रूपा ने चक्षु और आदित्य रूप से तेजस्वी हो जाता है चक्षु और स्वयं तो तेजस्वी नहीं तेज नहीं तेज का कार्य प्राण नहीं किंतु चक्षु और आदित्य तेज है उभय रूपेण चक्षु और आदित्य रूप से तेजस्वी है तथा तेजो गुण विशिष्ट दया इसलिए तेजो गुण विशिष्ट होने से तद उपासना महती प्राण उपास्य हो जाता है उसकी उपासना योग्य होता है कहा और सवितुस्स अन्नदत्व वृष्टि द्वारे सविता अन्न देने वाले होते हैं कैसे अन्न देते हैं वृष्टि के द्वारा ऐसा मनुस्मृति में लिखा है ये देना चाहते हैं आदित्य जायते वृष्टि ऐसा आया अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि अन्नम तथा प्रजा ऐसा कहा हुआ जब अग्नि में आहुति डालते हैं इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा कुबेराय स्वाहा जो भी बोल के डालते हैं बृहस्पति स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा जो भी बोलते हैं अग्नि में आहुति डालते हैं मंत्र के द्वारा आहुति डालते हैं वो आहुति बाष्पीकरण होकर के आदित्य में पहुंच जाते हैं अग्नौ प्रास्ताहुति प्रास्ता आहुति डाली गई आहुति सम्यक प्रकार से डाली गई आहुति अग्नि बुझी हुई नहीं होनी चाहिए ज्वाला लकड़ी में ज्वाला जलनी चाहिए अंगारे में नहीं डालना चाहिए बहुत का, सारे नियम हैं तो अग्नि में जो डाली गई आहुति है वह आहुति बाष्पीकरण के माध्यम से सूर्य को प्राप्त हो जाए आदित्यम उपजाए जाएगी और आदित्य जायते वृष्टि आदित्य उस आहुति को रखता है वृष्टि के रूप में रूपांतर करके नीचे गिरा देता है और वृष्टि अन्न जब वृष्टि होगी तो यहां अन्न हो जाएगा तथा प्रजा अन्न से प्रजा हो जाएगी प्रजा उत्पत्ति के क्रम हो जाता है ऐसा आया है इसलिए यही कहा यहां सवितुष्ठ अन्नदत्व सविता सीधा सीधा आपके घर में अन्न नहीं पहुंचाते हैं किंतु परंपरा ऐसी हो जाती है सविता वृष्टि करवाते हैं और वृष्टि के होने से अन्न होता है अन्न से संतान प्रजा हो जाती है आदित्य जायते इत्यादव दृष्टम आदित्य अन्नदा अन्न है अन्न देने वाला यहां देखा कहा देखा मनुस्मृति में देखा है आदित्या जायते दृष्टि तथो अन्न तथा प्रजा इत्यादि अतच अन्नम च आद्यम च इसलिए वो अन्न भी है आद्य भी है हम्म। खाने योग्य भी है अन्न भी है उसको अन्नाद्य बोलते हैं अन्नम च आद्यम चेती गुणांतर विशिष्टत्व सवित रूपम प्राणाख्यम ब्रह्म ध्यान एक तो तेजस्वी रूप से तो है ही है प्राण की उपासना चक्षु चक्षु में भी गुण है वो तेजस्वी गुण आदित्य में भी है दूसरे आदित्य को लेकर के एक दूसरा गुण भी अनाद्य रूप भी है इस रूप से भी उपासना करें कहा किम तभी मुख्यम फलम फिर ये तो गौण फल हो गया मुख्य फल क्या है तब तो कहा उपासन वशीकृतो द्वारप हाँ। स्वर्गलोक प्राप्ति हेतु भगवती मुख्यम सफल फल में मुख्य फल ये होगा उपासना के द्वारा जो बस में किया हुआ द्वारपाल होता है वो दरवाजा खोल देगा भीतर जाने के लिए रोकेगा नहीं ब्रह्मलोक प्राप्ति के द्वारा आत्म ब्रह्म की प्राप्ति के द्वार हो जाएगा ये कहा आगे मंत्र है अथ योश्य दक्षिण शिशि सव्यान सस्वत्र स चंद्रमा तदेत स्त्रीश्च इति उपासीत श्रीमान यशस्वी भवती य वेद अथ दक्षिण शिशि सव्यान तत्तोत्र स चंद्रमा तदेतस्त्रीश्च यशश्च इति उपासीत श्रीमान् यशस्वी भवति य एवं वेद अथ अनंतर प्राण ब्रह्म की उपासना के अनंतर यो अश्य दक्षिण सुशील जो हृदय के अश्य मान हृदय से दक्षिण सुशी दाहिने तरफ की दक्षिण दिशा संबंधित छिद्र है वो छिद्रस्थ जो प्राण होगा वायु होगा वो व्याम है वो सुशी में रहने वाला क्षेत्र में रहने वाला जो वायु विशेष है वो व्याम है तत्स्रोत्र जो व्याम है वही स्रोत्र से व्याम अभिन्न है स्रोत्र और व्याम में कोई भेद नहीं ये स्रोत्र इंद्रिय व्याम से अभिन्न है जैसे चक्षु प्राण से अभिन्न है वैसे स्रोत्र जो है व्याम से अभिन्न है और स चंद्रमा और वो चंद्रमा भी वही है प्राणी है तदेत तदे श्रेष्ठ यशस पास वो जो दक्षिण दिशा संबंधी जो प्राण ज्ञान वायु है उस ब्रह्म की उपासना करे द्वारपाल की उपासना करे क्या आदान करके श्री गुण और यश गुण को आधान करके उपासना करे श्रेष्ठ यशश्च उपासिता श्री मान करके ऐश्वर्य मान करके और यश कीर्ति मान करके उपासना करें जो श्री और ऐश्वर्य श्री और यश विशिष्ट की उपासना करेगा ये भी श्रीमान हो जाएगा ऐश्वर्य वाला होगा फल और यशस्वी होगा ये दृष्ट फल होगा ऐसी उपासना करेगा अदृष्ट फल तो वही होगा भारत ब्रह्म की प्राप्ति होगी उसकी लोग प्राप्ति होगी <clears throat> ये बतलाना है ठीक है मैं हृदय से पूर्व दिख अवस्थित छिद्र संबंधित हृदय के जो पूर्व दिशा में व्यवस्थित छिद्र है संबंधी होने से प्राणम उप प्राण की उपासना बताई कथन करके व्याना श्रोत्रम चंद्रमाश्चति तृतयम इतर संबंधम उपास्य इत्या और उसके पश्चात ब्यान वायु श्रोत्र और चंद्रमा ये तीनों के तीनों तृतयम इतर संबंध दूसरी दिशा में संबंधित है कहा दक्षिण दिशा में संबंधित है अथ इत्यादि कहा अथ युवा दक्षिण सुशी जो दक्षिण सुशी माने दक्षिण स्थल लेना क्यों दक्षिण सुशी वायु नहीं है दक्षिण सुशी में रहता है वायु हाँ, दक्षिणावृत्ति है दक्षिण सुशी बोला है मंत्र में उसका अर्थ दक्षिण स्थल दक्षिणावृत्ति से अर्थ करना दक्षिण दिशा के छिद्र में रहने वाला ये अर्थ करना युवस्य हृदय से अश्य माने हृदय से दक्षिण सुशी दक्षिण तत्थ दक्षिण सूची में स्थित माने दक्षिण द्वार में स्थित है कौन वायु विशेष है वो भी एक स वीरवत कर्म कुर्बन विग्रह व प्राणापान नाना व अनेक ब्यान ब्यान का व्याख्या करते हैं ब्यान क्यों कहते हैं बी आना ब्यान ऐसी स्थिति है बी और आना ब्यान ऐसा बनाया मैंने क्या होता है कहते हैं पीर बी का अर्थ वीरवत कर्म जब शाम बहुत ताकत लगा करके कर्म करना होगा उसमें ब्यान वायु का प्रयोग होता है प्राण और अपान के रोकने के जो संधि है वो ब्यान है जब प्राण भी नहीं छोड़ते प्राण को खींचते भी नहीं छोड़ते भी नहीं जो कोई वजन आदि उठाने का प्रसंग आएगा उस काल में प्राण छोड़ते हुए भी नहीं होता खींचते हुए भी नहीं होता प्राण और अपान काल में नहीं होता व्यान वायु काल में होता उसमें रोकते हैं प्राण अपान को रोक करके तभी उठाया जाता है जो वजन उठाना हो बड़े बड़े धनुष खींचना हो अग्निबंधन आदि करना हो ऐसी स्थिति में माने बलपूर्वक जहां काम करना होगा वहां प्राण और अपान को रोक कर रोक के इसको संधि है ना वही व्याम की व्याम वायु कहते हैं संधि को ऐसा करना होता है एक वीरवत कर्म गुरबन अनिति इति व्याम एक अर्थ है बी का अर्थ वीरवत बलवत कर्म करता है वो कर, करके ऐसा माने चलता है चेष्टा करता है इसलिए वो ये व्याम है दूसरी बात विग्रह बा प्राणापान हो दोनों को मिलने नहीं देता प्राण और अपान को अलग करके चलता है वो अपान को नीचे रखता है प्राण को ऊपर करता है बीच में बैठा हुआ है वो मध्य में इसलिए भी उसको बयान कहा विग्रह अथवा विग्रह करके दोनों को अलग अलग करके पृथक करके प्राणापान बिक्री विग्रह अनिति ब्यान ये भी अर्थ होगा ब्यान का तीसरा अर्थ है नाना व अनिति उन उन स्थानों में मर्मस्कंध में हर जगह ब्यान वायु रहता है काम करता है जितने मन स्थान है वहां सब जगह बयान वायु नाना देश में बैठ करके चेष्टा कर रहा है नाना अनिति ज्ञान ये भी अर्थ होगा बयान का तीन व्याख्या की ज्ञान का दीरिवत कर्म कुर्बन ज्ञान विग्रह व प्राणापानो अनिति ज्ञान अथवा नाना व अनिति ज्ञान मान विशेष विशेष बहुत सारे थानों में चेष्टा करता है इसलिए ज्ञान होता है कहा तत्सबंध विभत तत्म कहा उस बयान में संबंधित होता है स्त्रोत्र स्त्रोत्र बयान से अभिन्न है आगे दिखाएंगे टीका आदि में स्त्रोत्र मान इंद्रियम स्त्रोत्र मान इंद्रिय है यहाँ स्त्रोत्र इंद्रिय बयान से अभिन्न तथा सब चंद्रमा वो बयान से अभिन्न चंद्रमा भी कैसे आगे टीकाकार इसकी व्याख्या करेंगे क्योंकि कहते देखो श्रोत्रेण सृष्टा दिशाश्च चंद्रमाश्च श्रुते है ऐसा श्रुति है कहीं इंद्रिय के द्वारा सृष्ट है सृष्टि की हुई स्रोतरेंद्र को बड़ा सृष्टि हुई कम दिशाएं और चंद्रमा ऐसे स्मृति में आए चंद्रमा स्रोत्र से अभिन्न है और स्रोत्र ज्ञान से अभिन्न है इसलिए एक ही होता है सहाश्रयो यहां भी पूर्व के समान ही लेना केवल ये स्रोत्र और चंद्रमा ही अभिन्न है प्राण में ज्ञान में ये बात नहीं उनके आश्रय के सहित स्रोत्र आश्रित किसमें शब्द में माने चंद्रमा आश्रित होगा श्रोत्र में और श्रोत्र श्रोत्र इसका ग्राहक है शब्द का शब्द में आश्रित होगा और शब्द जो में शब्द हृदय में आएगा आश्रय के सहित सहाश्रय कहा आश्रय के सहित पूर्ववर्ती जैसे पूर्व में कहा था चक्षु और आदित्य अपने आश्रय के सहित हृदय में इसी प्रकार यहां भी है ये समझना तदे तत्व वो जो ज्ञान नामक ब्रह्म को तदे तत् शब्द तदे तत्व मंत्र है मंत्र में है उसका अर्थ व्यांगामक ब्रह्म क्यों वो स्वर्गलोक का द्वारपाल है इसलिए ब्रह्म शब्द से कहना तदे तद ब्रह्म वो जो ब्रह्म ज्ञान नामक ब्रह्म है श्रीश्च माने विभूति मानकर उपासना करे उसको ऐश्वर्य मानकर श्रीश्च माने विभूति श्रोत्र चंद्रमसुर ज्ञानात ज्ञान अन्न हेतुत्व अतस्ताभ्याम श्रीतम कहते देखो ये विभूति मान की उपासना करना क्यों कहते हैं तो श्रोत्र से शब्द आदि सुना जाता है ज्ञान होता है श्रोत्र ज्ञान का कारण है कौन श्रोत्र इंद्रिय हम सुनते हैं सुनने पर ज्ञान होता है ये घट है पट है मठ है सुना सुनने पर ज्ञान हो जाता है श्रोत्र चंद्रमा स्वर देखो ये दो में एक गुण है श्रोत्र में और चंद्रमा में क्या गुण है क्योंकि ज्ञान से अभिन्न है श्रोत्र और चंद्रमा तो श्रोत्र का गुण होता है ज्ञान और तो चंद्रमा का गुण होता है अन्न हेतु चंद्रमा अन्न का कारण है पुष्पामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा सात्मक पंचदश अध्याय में कहा है हाँ, सारे अन्नों को मैं पुष्ट कराता हूँ अमृत पर रात में धीमे सूर्य के किरण से तप जाते हैं सारा सूख जाते हैं रात में मैं भरता हूं उसको चंद्रमा के किरण में अमृत होता है उसके माध्यम से छिटक करके अमृत छिड़क करके मैं पुष्ट करता हूं अन्न को बोला है पुष्टामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवार ऐसा है तो चंद्रमा जो होते हैं ना अन्न के हेतु है और स्रोत्र जो होता है ज्ञान का हेतु स्रोत्र से शब्द सुना जाता है शब्द सुनने पर ज्ञान होता है इसलिए कि स्रोत्र और चंद्रमा अन्न और ज्ञान के हेतु होने के कारण से क्या हो जाएगा श्रीत्व ऐश्वर्य है वो अन्न जैसे होगा पास होगा वो भी ऐश्वर्य है ज्ञान का भंडार जिसके पास होगा ऐश्वर्य है यह ऐश्वर्य श्रीश्च ये श्रीमान की उपासना करना चंद्र इसका कहा दूसरा आगे कहते हैं ज्ञान अन्नवत ऐसा ख्याति बहुत ही और जो जिसके पास ज्ञान होगा अथवा अन्न प्राचुर्य होगा उसकी ख्याति बढ़ जाती है बड़ा धनी आदमी है कहते हैं ज्ञान के धनी है या अन्न के धनी है ज्ञान अन्नवत ज्ञान वाला व्यक्ति और अन्नवान व्यक्ति जो होगा यश ख्यातिर ही उसके यश हो जाता है इसलिए यश गुण भी उसमें आएगा ही इति यशो हेतुत्वात या अन्न जो होता है ज्ञान और अन्न यश के कारण होने से हेतुत्वा यशस्तम यश भी है वो अतः ताभ्याम गुणाभ्याम उपासना स्त्री और यश मान करके ये दो गुणों से ज्ञान वायु ज्ञान वायु नामक जो ब्रह्म है उसकी उपासना करें ये समान पूर्व के समान है कहा ठीक है फिर करेंगे समय हो गया ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि सर्व ब्रह्मोपनिषद माहम ब्रह्म निराकुया मामा ब्रह्म निराकरोद सत्सुधर्मास्ते मयि सन्तु ये मयि सन्तु ॐ शांति शान्ति शान्ति